अल्लाह ताला ने हुरमत वाले घर काबे को लोगों के क़याम का ज़रिया बनाया है और हुरमत वाले महीनों को भी और क़ुरबानी के जानवरों को भी और पटे डाले गए जानवरों को भी इसकी वजह यह है कि तुम जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है और बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है